सारे शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म अभिन्न आत्मा है उसके ज्ञान से ही मुख्य है एवं विदिता परमात्म रूपम गुहाशयम निष्कलम अद्वितीय समस्त साक्षी सदसद विहीनम प्रयाति शुद्धम परमात्म रूपम एवं इस प्रकार विदित्व साक्षात्कार करके विधिवत श्रवण मनन निधिध्यासन और परमात्मा स्वरूप को समझ करके त्वम पद का लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ निश्चय करके एकत्व जब लक्ष्यार्थ में संशय विपर रहित तो ज्ञान हो जाए तो तत्पद त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ एक है एकत्व निश्चय होता है महावाक्य से ज्ञान होता है महावाक्य से पदार्थ ज्ञान पहले वाच्यार्थ बोध होगा वाच्यार्थ में तम पद का वाच्यार्थ जीव है अल्पज्ञ साहंकार तत्पद का वाच्यार्थ है सर्वज्ञ ईश्वर निरहंकार दोनों में एक नहीं हो सकता है तब फिर लक्षण के द्वारा लक्ष्यार्थ उपस्थित होगा लक्ष्यार्थ में एकत्व तो है जिस प्रकार स्वयं देवदत्त इसी वाक्य में तत्पद का अर्थ तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त अयम है इस देश काल विशिष्ट देवदत्त दोनों काल भिन्न है पूर्व काल वर्तमान काल देश भी भिन्न है तद्देश तद्देश इसलिए विशेषण भिन्न होने से तद विशिष्ट में एकत्व नहीं विशेषण को छोड़ करके केवल देवदत्त पिंड में एकत्व है इसी प्रकार उपाधि के भेद से सर्वज्ञत्व तो सर्वशक्तिमत्व विशेषण ईश्वर में है निरहंकारत्व जीव में अल्पज्ञत्व तो साहंकारत्व ये उपाधि के कारण है धर्म वो विरुद्ध धर्म का त्याग कर देने पर शुद्ध चेतन केवल एक ही तब अहमअस्मी ऐसे सा, ब्रह्म साक्षात्कार होने पर एवं विदिता परमात्म रूपम परमात्मन स्वरूपम आनंद ब्रह्म स्वरूप गुहाशयम बुद्धि रूप गुहा में स्थित है निष्कलम कला रहित रहित सोलह कला प्रश्नोपनिषद में कही गई वही कोई कला नहीं शुद्ध रूप है अद्वितीयम उसे भिन्न कुछ है ही नहीं जड़ नहीं चेतन भी नहीं भाव अभाव कुछ भी नहीं समस्त साक्षी सबके साक्षी को जो जानता है समस्त साक्षी सदसद विहीनम सत असत रहित भाव अभाव रहित कुछ नहीं एक अद्वितीय तत्व से अतिरिक्त भिन्न कुछ नहीं तब प्रयाति शुद्धम परमात्मा रूपम ऐसे साक्षात्कार करने पर तो तद ब्रह्मवेद वेद भवती शुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है तद्रूप हो जाता है एवं विदित्वा एवं का तो उत्तर प्रकार ने जैसे कहा गया सब ब्रह्म स्वरूप का कथन किया और प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म एकत्व ज्ञान कैसे होगा ये सब विभिन्न सब प्रकार कहा जैसे जैसे उपनिषद में विदित्वा का अर्थ तो साक्षात्कृत्य साक्षात्कार शब्द से सुन करके थोड़ा जो ज्ञान होता है वो कहीं कहीं कहते उसको परोक्ष ज्ञान कहीं कहीं शब्द से ब्रह्म विषय का ज्ञान क्योंकि ब्रह्म है यथ साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म अपरोक्ष है तो अपरोक्ष ज्ञान ही ही होता है तत्वमसी वाक्य से किंतु संशय विपर्य होने से दृढ़ नहीं प्रतिबद्ध है संशय विपर्य निवृत्त होने पर अप्रतिबद्ध ज्ञान होता है प्रतिबंध रहित उसको दृढ़ अपरोक्ष कहते हैं कहीं कहीं शास्त्र में पहले परोक्ष कहते हैं संशय विपर नष्ट होने पर अपरोक्ष कहते हैं तो संशय विपर रहित ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है तो शब्द में भेद कहीं कोई परोक्ष कहेंगे बाद में अपरोक्ष कहेंगे पहले प्रतिबद्ध आगे अप्रतिबद्ध पहले अदृढ़ आगे दृढ़ जो ज्ञान संशय विपर रहित है वही ज्ञान अहम अस्मी ब्रह्म ऐसे ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है साक्षात्कृत साक्षात्कार करना परमात्मा रूपम परमात्मा स्वरूप को अहम तो अहम अस्मि उत्कृष्ट आनंद आत्मस्वरूपम उत्कृष्ट निरतिश आनंद स्वरूप है आनंद ही स्वरूप है वही आनंद है वही ज्ञान है वही सत ही बुद्धि शयानम गुहा बुद्धि रूप गुहा में स्थित है निष्कलम निर्गत कला यत तनिष्कलम कला है प्रश्न उपनिषद में कहे गए प्राण श्रद्धा खौं वायु आगे चार दे दिया चार हो गया ज्योतिर आप पृथ्वी इंद्रियम और चार हो गई तो आठ हो गया आठ दे दिया मनो अन्नम दस हो गया वीरियम तपह बारह हो गया मंत्र कर्म लोका नाम और चार हो गए इति प्रश्नोक्ता प्रश्नोपनिषद में कहेगी कला निर्गता कला यस्मात् तम निष्कलम कला रहित है अद्वितीय अविद्यमान द्वितीय यत यस्मात् यस्य द्वितीय न विद्यते कुछ है ही नहीं द्वितीय एक है उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है द्वितीय होगा किसे सजातीय विजातीय वस्तु कोई है ही नहीं सजातीय कोई चेतन अलग नहीं विजातीय कोई जड़ भी अलग नहीं कुछ भी अलग हो तो द्वितीय हो जाएगा सजातीय विजातीय वस्तु शून्यम उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है अद्वितीय अद्वैत एकमेव द्वितीय अद्वितीय शब्द श्रुति में आया सामवेद में सदैव समेदम मगर आश्रित एकमेव द्वितीय अद्वितीय अनंतम ब्रह्म ऐसे बहुत है उसे भिन्न कुछ भी नहीं है सर्वम ब्रह्म तभी बनेगा उसे भिन्न कुछ भी नहीं हो और कोई कहते ब्रह्म से भिन्न तो कुछ नहीं सारा प्रपंच ब्रह्म का अवयव जितने जड़ और चेतन सब ब्रह्म का अवयव तो उससे भिन्न कुछ नहीं है ब्रह्म एक है अद्वितीय हो गया उससे भिन्न कुछ नहीं किंतु ब्रह्म को मानते हैं सावयव जड़ चेतन को कहते ब्रह्म का अवयव सावय वस्तु होगा ये निष्कल श्रुति का विरुद्ध होता है कला रहित अवयव रहित और सावय वस्तु जितने है तार्किक लोग छोड़ेंगे नहीं सब अनित्य है सावय तो अनित्य हो जाएगा किसी को कोई वस्तु नहीं नहीं सावय वस्तु सा नित्य हो तो अवयव हो तो अवयव ह्रास बुद्धि सवयव उत्पत्ति नाश ये नित्य नहीं होगा इसलिए सवयव नहीं है सवयव नहीं तो जड़ चेतन उसका अवयव ये पक्ष ठीक नहीं है अद्वितीय मतलब उससे भिन्न कुछ भी नहीं है और सौ जड़ चेतन को मिला करके एक परमात्मा है उससे भिन्न कुछ नहीं क्योंकि सब मिल करके एक हो गया सब मिल कर हो जाएगा तो उसका अवयव हो जाएगा सब तो अवयव नहीं है और अवय अवय भाव कहीं कहीं आक्षेप करते हैं यदि जीव ब्रह्म एक है तो भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान था या नहीं था तो फिर अर्जुन को क्यों उपदेश करते हैं अपने से अभिनव को कोई उपदेश करता है कभी अपने आप कमरा में बैठे तुम अपने आप अपने को अभिनव उपदेश कहीं कहीं मन को कहते हैं उपासना मन ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता हो ऐसे कोई कहते तो भी मन से भिन्न है तो मन को कहा ये तो बनेगा अब परमात्मा जानते हैं मेरा ही स्वरूप मेरे से बिना कुछ है नहीं उपदेश कैसे बनेगा और जो अवय अवय मानते हैं उनका तो उपदेश बन जाएगा <laughs> कोई जा करके कहता है मामा अंगुली अग्रह <laughs> अंगुली का अग्रह तुम दुखा नहीं करो <laughs> तुमको मैं अवसर दिलाया ठीक है कट गया अंगुली अग्रह तो उसको कहेगा ये अंगुली अग्रह चिंता नहीं करो हम इसको तुम्हारी चिकित्सा करेंगे तुम ठीक हो जाओगे ऐसा कोई कहता है अवयव को तो परमात्मा का अवयव यदि अर्जुन है अवयव क्यों उपदेश करेंगे अभिन्न से उपदेश नहीं बनेगा अपना अवयव कहें तो क्यों उपदेश अच्छा अवयव यदि होगा अवयव सब अवयव दुखी है जिस व्यक्ति के अवयव में ये कोई मच्छर तत्व आदि काटेंगे और व्यक्ति के तो कष्ट नहीं होगा ना यह होगा सारे अवयव में यदि मच्छर काटते हैं चिंटी काटे तोतया काटे तो भी खुशी में आनंद है ईश्वर के अवयव सब जीव सब रो रहे हैं तो सारा जीव शरीर पूरा ईश्वर के शरीर में सब स्थान में कोई हंसता है कोई मरता है कोई रोता है कोई टूट के हाथ पर तो सारा अवयवी अवयव में कष्ट है तो सब कष्ट अवयवी में आ जाएगा इसलिए ये अवयव अवय भाव हाँ मानेंगे तो बहुत दोष है अद्वैत में फिर कैसे उपदेश बनेगा अद्वैत में वास्तव पारमार्थिक अद्वैत उपदेश भी नहीं है व्यावहारिक द्वैत माया से जो द्वैत होता है तो उसमें उपदेश बनता है ये तो सामान्य दृष्टांत है आप सोते समय अकेले कमरा में सोया और सपन में निद्रा दोष से प्रपंच बना करके उसमें शत्रु मित्र जड़ चेतना कोई गुरु शिष्य सारे कुछ बन जाता है आपसे भिन्न कोई है ही नहीं किंतु प्रपंच बन गया प्रपंच जैसे लगता है इसी प्रकार उसमें व्यवहार होता है राग द्वेष झगड़ा गुरु शिष्य उपदेश सब कुछ कोई बैठ कर श्लोक रटता है कोई लघु कम रटता है सपना में अभ्यास ऐसे करते करते सपने भी से देखते हैं राग द्वेष होता है झगड़ा भी होता है मैत्री सब कुछ है इसी प्रकार माया से ही सब कुछ है पारमार्थिक नहीं पारमार्थिक में उपदेश भी नहीं अद्वैत तत्व को मान लिया तो फिर अद्वैत शास्त्री तो उपदेश नहीं और जब उपदेश आपको दिखता है गुरु शिष्य भेद दिखता है तो अद्वैत निश्चय नहीं हुआ माया से द्वैत है व्यवहारिक पारमार्थिक अद्वैत है उसमें कोई आपत्ति नहीं है ये इसको श्रवण करने पर विचार करने पर श्रवण के बाद मनन करना होता है बिल्कुल अश्रद्धा दुराग्रह है तो ग्रहण नहीं होता है इसके मन में है कि हमारा ये मत है दूसरे मत नहीं मानेंगे तो उसको ग्रहण ग्रहण वो नहीं कर सकता है शास्त्र का तात्पर्य भगवान क्या कहते गीता में भी किसी पुराण में भी पढ़े ग्रहण करने की इच्छा से पढ़े तो उसमें सब कुछ है भक्त अपने को कहते हैं हम भक्त है किंतु विष्णु पुराण पढ़ेंगे अद्वैत मत आएगा तो उसको छोड़ देंगे भागवत पढ़ेंगे भक्त है भगवान कृष्ण हो तो भगवान कहेंगे यदि अद्वैत आए उसको छोड़ देंगे ऐसे प्रकार सौ में अद्वैत मत स्पष्ट है किंतु किसी मत में दुराग्रह उसको छोड़ दिया ग्रहण नहीं होगा नहीं तो बहुत शास्त्र तात्पर्य समस्त शास्त्र तात्पर्य जो व्यास जी ने जिन्होंने ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा दर्शन की रचना की उन्होंने तो अष्टादश पुराण की रचना की तो कैसे दोनों में मतभेद होगा एक तत्व है सर्वत्र कहा गया वही है अद्वितीय वस्तु है उसे भिन्न कुछ भी नहीं तभी तो बनेगा वासुदेव सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म उसे भिन्न कुछ भी नहीं सर्व हो गया और समस्त साक्षी समस्त साक्षीणम समस्त साक्षी ये वैदिक प्रयोग छांद से प्रयोग है साक्षी शब्द नकारांत है तो साक्षीणम द्वितियांत बनेगा सबका दृष्टा है सबको प्रकाश करने वाले एक दृक रूप चेतन है सबका प्रकाशक बाकी सब प्रकाश्य है प्रकाश्य मतलब ज्ञेय ज्ञान होता है प्रकाश दृक प्रकाश से प्रकाशित सब एक दृक बाकी सब दृश्य दृश्य जितने हैं जैसे सपन प्रपंच में दृश्य मिथ्या है सारे दृश्य मिथ्या है अनुमान से सिद्ध कर देते हैं प्रपंच मिथ्या दृश्यवात सपन दृश्यवत जो दृश्य होता है सब मिथ्या है जितने ज्ञान का विषय सब मिथ्या है और सब दृश्य सब मिथ्या होगा तो और बचेगा क्या सत्य होगा दृग रूप है जो दृश्य नहीं होता जो ज्ञेय नहीं होता है जो ज्ञान रूप स्वयं प्रकाश है वो स्वयं प्रकाश ही सत्य ब्रह्म और बाकी सब मिथ्या है सबका दृष्टा जो सबका दृष्टा है वो आपकी बुद्धि का भी वो साक्षी है बुद्धि का साक्षी आप तो नहीं हाँ जो बुद्धि को जानने वाला वही है समस्त साक्षी एक ही अद्वितीय तत्व है सब सर्वत्र वो यदि एक अद्वितीय है तो ऐसा लगता है अपनी बुद्धि को तो हम जानते हैं दूसरे बुद्धि को क्यों नहीं जानते हैं बुद्धि का साक्षी एक है तो आप अपने बुद्धि को जानते दूसरे बुद्धि को नहीं जानते दूसरे बुद्धि को जानने वाले दूसरे बुद्धि के साक्षी अलग है बुद्धि सबके अलग अलग है एक है सबके बुद्धि के साक्षी अलग अलग हो जाएंगे तो अलग सब चेतन हो जाएंगे वो साक्षी एक है बुद्धि अलग अलग होने के कारण बुद्धि का प्रकाशक देहादि के साथ आध्यात्म अध्यास होने से वो साक्षी भी भिन्न भिन्न भान होता है एक ही प्रकाश है सूर्य का किंतु घटपट आदि सब प्रकाश्य के साथ संबंध होने से प्रकाश भी बहुत लगता है प्रकाश सूर्य का है कि हजारे घड़ा में धूप में रखेंगे तो सब में प्रकाश का संबंध होगा अभी प्रकाश देखो कितने प्रकाश है सब घोड़ा में प्रकाश अलग अलग है एक है एक है घोड़ा का तोड़ देंगे तो प्रकाश नहीं दिखेगा तो और कहीं प्रकाश भी नहीं दिखना चाहिए प्रकाश के संबंध से प्रकाश भी अलग अलग दिखता है प्रकाश से बहुत है घट प्रकाश से अलग होने से प्रकाश भी अलग अलग दिखता है प्रकाश का धर्म प्रकाश में आरोप होता है इसमें दृष्टान देते हैं जैसे सूर्य किरण कोई रोशनदान से आ जाता है यहाँ वो दिखता नहीं और उसमें इसको वस्तु को दिखाएंगे हाथ को हिलाओ इसको दिखाओ यहाँ प्रकाश दिखेगा और इसको हिलाओ तो प्रकाश इसके संबंध से दिखेगा सूर्य किरण में आता है ऐसे करेंगे तो प्रकाश दिखेगा यह प्रकाश्य प्रकाश्य का चलन प्रकाश में दिखता है प्रकाश्य का रूप प्रकाश से दिखता है इसी प्रकार प्रकाश से अनेक होने से प्रकाश में भेद ऐसे आरोप हो जाता है प्रमाता के साथ साक्षी का एकत्व तो अध्यास होने से आपको लगता है हम अलग है क्योंकि प्रमाता भिन्न भिन्न है अंतकर्ण भिन्न होने से अंतकर्ण विशिष्ट चेतन भिन्न भिन्न है वो प्रमाता के साक्षी का एकत्व तो होने से लगता है मैं इसको जानता हूँ जिस प्रमाता के साथ एकत्व तो अध्यास होता है उसी के अंतकर्ण को प्रकाश करता है सब को प्रकाश करने पर भी एक साक्षी होने पर भी अलग अलग प्रमात के साथ अलग अलग एकत्व अध्यास होने से लगता है अनेक है वही साक्षी है समस्त साक्षी वही है जो जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों को जानता है आप आप जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों को जानते हैं वही साक्षी है जो तीन अवस्था में रहता है जागृत काल में है स्वप्न में सुश्रुति तीन अवस्था में है वही कौन है जो जागृत काल में बुद्धि को जानता है वही है कोई अलग नहीं जागृत काल में बुद्धि को जानने वाले बुद्धि सुख दुख को अनुभव करने वाला साक्षी है वही स्वप्न दृष्टा है वही सरस्वती का साक्षी है वही कुटस्थ है एक क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र को जानने वाला शरीर को जानने वाला और जो क्षेत्रज्ञ है वही पर ब्रह्म क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र सारे शरीर में एक क्षेत्रज्ञ है वही बुद्धि का जो साखी वो समस्त साखी सबका दृष्टा है वही रूप एक दृक है बाकी सब ज्ञ पदार्थ है आप क्षेत्र ज्ञ है क्षेत्र नहीं जानने वाले दृक रूप चेतन वो आप हम ऐसे कहते समय देहादि को मिला करके अहम बुद्धि हो जाती है देहादि में सब दो ज्ञेय है देह भी ज्ञ है इसलिए आप दृक रूप देह से अलग है ज्ञ पदार्थों को अपने से पृथक करना पृथक समझना इंद्रियों को जानते हैं मन को जानते हैं बुद्धि को जानते हैं बुद्धि में क्या हुआ देखते हैं सुख दुख अनुभव करते ये सब दृश्य में आ गए ज्ञेय पदार्थ दृघ रूप भी है जो ज्ञेय नहीं होता है वो भ्रांत भ्रांति होती तो सब सोते हैं उसको जानेंगे किसके द्वारा उसको देखेंगे जो दृघ रूप चेतन सबका प्रकाशक है उसका प्रकाशक कोई नहीं है सारे पदार्थ जड़ है उसी चेतन जो चेतन सारे जड़ को प्रकाश करता है और साथ को क्या सोता है उसी साक्षी को प्रकाश करेगा किसके द्वारा किसके द्वारा जड़ों के द्वारा कौन सा जड़ है वो प्रकाश को प्रकाश करने वाला जितने सब है सब से हो गए सूर्य आदि का भी प्रकाश का चेतन है बुद्धि का भी प्रकाश का और वो जो प्रकाश का साक्षी वो कहाँ है कौन है उसको कैसे हम देखेंगे वो अपना स्वरूप स्वयं अपना जो है अपना स्वरूप कहते समय जो आपके द्वारा गेय है दृश्य है शरीर आदि उसको अलग कर दिया वो तो अपने रह गया साखी और उसको फिर जानने के लिए किसके द्वारा जाने विज्ञानता हमारे के न जानी आत अन्य कोई पदार्थ कोई है ही नहीं उसको प्रकाश करने के लिए सब जड़ है मिथ्या है एक दृघ रूप सारे मिथ्या को नेत नेति कह करके सब का निषेध कर देते हैं जितने गेय पदार्थ है सबको निषेध कर दो तो दृक रूप चेतन एक रहा वही पर ब्रह्म है सदसद विहीनम सत का था भाव असत का था अभाव असत का था कहीं भिन्न भिन्न शब्द से स्थान पर भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग किया जाता है सत है विद्यते सत अस्तिति सद भाव है न सत इति असत कहें तो भाव विलक्षण और कहीं असत का अर्थ बंध्यापुत्र तुच्छ को असत कहते हैं तो यहाँ सदसद सद सद है अस्थि ऐसे प्रति अस्तिति प्रतीति का विषय घटो अस्थि पटो अस्थि सद्य भाव और उन असत्य न सत्य असत्य के अभाव तो असद असद भिन्न का तो भावा भाव विवर्जितम उसमें भाव पदार्थ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं अभाव पदार्थ भी कुछ नहीं है कहीं कहीं सारे प्रपंच का निषेध करेंगे तो सबका अभाव हो जाएगा ब्रह्म में तो सबका अभाव रहेगा तो अभाव क्यों नहीं रहेगा तो एक समाधान कर देते भाव हजार रहे तो क्या होगा भाव पदार्थ एक ही तो भावाद्वैत कहते भाव ही एक ही अभाव अनेक हो जाए किंतु आगे विचार करने से देता अभाव भी किसका है जिसका अभाव कहोगे वह वस्तु को हम अभी देखते हैं उसमें सत्य तो बुद्धि है उसका अभाव हो जाएगा तो अभाव में भी सत्य तो बुद्धि जो पदार्थ है ही नहीं उसका अभाव कैसे प्रसिद्ध होगा ज्ञान होने के बाद जब देखे जो पदार्थ पहले रज्जु में सर्प देखते हैं देखते समय लगता है सत्य विचार कर जब देखते हैं वो तो कहते हैं अनिर्वचनीय सर्प सत नहीं असत नहीं अनिर्वचनीय और जो रज्जु का ज्ञान हो गया वो कहे सर्प का अभाव हो गया किस सर्प का अभाव हो गया वो सर्प था क्या अनिर्वचन सर्प कहे बाद में जो कहें सर्प तुच्छ हो जाता है रजु देखने पर सर्प कुछ नहीं क्या अनिर्वचन क्या है जो दिखता है तो उसको प्रतिपादन करने के लिए असत नहीं ये कहते हैं बाद में कुछ नहीं भाव पदार्थ एक अद्वितीय से भिन्न कुछ था ही नहीं अभी क्या है आकाश आदि प्रपंच पृथ्वी जल आदि सब दिखने से उसमें सत्य तो बुद्धि है फिर वो कार्य कारण से अलग नहीं इसे करते करते नेत नेति निषेध करके अज्ञान नष्ट होने जाने से ये पदार्थ का सब का अभाव हो गया अज्ञान का नाश रह जाएगा अज्ञान की निवृत्ति इसलिए कहा अज्ञान की जो निवृत्ति है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं है इसमें विचार हुआ था चित्त सुखी ग्रंथ में अविद्या की निवृत्ति क्या पदार्थ है वो ज्ञातत्व ने उपलक्षित आत्मा मीमांसक लोग कहते अभावना को कोई पदार्थ अधिकरण से अलग है ही नहीं व्यवहार काल में भी तो तर्कशास्त्र में अभाव के, के पदार्थ कहा गया भाव जैसे के पदार्थ एक अभाव किंतु मीमांसा कहते घट ये भूतल में देखो भूतल में कितने अभाव है सारे घट पट मठ व्याघ्र हस्ती सब का अभाव है देखो क्या दिखता है भूतल दिखता है या व्याघ्र का अभाव दिखता है पुस्तक का अभाव दिखता है व्याघ्र पुस्तक आदि कुछ कहीं है तो उनका अभाव विचार करेंगे प्रत्येक को जानो समझो तो अभाव कहेंगे नहीं तो भूतल ही दिखता है वो तो भूतल में अभाव है अनेक हजार करोड़ वस्तु का अभाव है दिखता भूतल ही है इसलिए जितने भी अभाव को हो भूतल से अतिरिक्त तो उसकी सत्ता कुछ अलग है ही नहीं मीमांस को लोग कहते व्यवहार काल में भी और पारमार्थिक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो गया और कोई पारमार्थिक है ही नहीं कल्पित पदार्थ है कल्पित पदार्थ रहते समय भी नहीं है और उसका जो पदार्थ है ही नहीं उसका अभाव ही कुछ नहीं भाव अभाव कुछ नहीं व्यवहार काल में कहते वस्तु तो अद्वितीय तत्व तो हो गया तो उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं और कुछ नहीं कुछ नहीं कहने से भाव भाव कुछ नहीं नहीं तो अभाव है अभाव भी अधिकरण ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं भावा अभाव विवर्जितम तदेव निरवध्यम अवध्य है दोष निर्दुष्ट शुद्ध यही ब्रह्म ही शुद्ध स्वरूप है अविद्या के कारण बाकी पदार्थ दिखते हैं तो उनको अशुद्ध कहते शुद्ध एक चिद्रिक रूप उसको प्राप्त गच्छति इत्या उसको प्राप्त कर लेता है प्रयाति शुद्धम परमात्म रूपम शुद्ध परमात्म रूप को प्राप्त करता है स्पष्टम अर्थ स्पष्ट है एवं भूतम परमात्मान पत्तिपत्तुम अशक्या अशुद्धांतकरण से प्रतिपत्व अशक्य अशुद्धांतकरण से अंतकरण शुद्ध्यर्थम आह एवं भूत परमात्मा प्रतिपत्व अशक्तिया असक्त्या असामर्थ्य होने पर प्रतिपतम असक्त्या अशुद्ध अंतकरण अशुद्धम अंतकर्ण जैसे प्रतिपत्तम जो असमर्थ है सामर्थ्य नहीं सामर्थ्य नहीं होगा क्यों अंतकर्ण से अंतकर्ण शुद्धि के लिए चाहे शुद्धि शुद्ध्यर्थम आह श्रवण करते हैं मनन नहीं हो पाता है मनन करने पर नहीं होता है अशुद्ध अंतकरण हो तो श्रवण भी पूरा नहीं कर पाता है और श्रवण क्या तो मनन नहीं करेगा वासना है तो मनन करने के लिए नहीं देगी इधर उधर भागो और मनन करे तो शुद्ध नहीं हो तो श्रवण का स्पष्ट अर्थ ज्ञान नहीं होता है इसलिए अंतकोण शुद्धि के लिए ही सौ साधन यज्ञ दान तपाधि जितने ज्ञान का साधन अंतकोण शुद्धि के द्वारा इसलिए अंतकोण शुद्धि के लिए भी वेदांत श्रवण करते रहे अंतकोण शुद्धि के लिए भी थोड़ा ध्यान विचार करे प्रयास करे अंतकोण शुद्धि होने पर वैराग्य दृढ़ होगा वैराग्य में कम थे तो अंतकोण शुद्ध नहीं अपने आप देखे विषय में जब अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य बाकी सब मिथ्या है ये यदि थोड़ा समझ में आता है तो प्रपंच में क्यों आसक्ति होती है प्रपंच में क्यों किसी वस्तु में आसक्ति वासना है कारण ये है कि उसमें सत्य तो बुद्धि है शास्त्र से सुना अद्वितीय ब्रह्म है सब मिथ्या है वो कितने ग्रहण हुआ ग्रहण नहीं होता है तो अंतकोण शुद्धि यदि ग्रहण हो जाता है बाकी सब मिथ्या है तो मिथ्या वस्तु में आसक्ति क्यों आसक्ति नहीं हो तो वही वैराग्य है तो सत्य वस्तु को प्राप्त करना है तो मिथ्या वस्तु में आसक्ति छोड़े सत्य वस्तु तो अपना स्वरूप है अपना स्वरूप में असत्य को मिला करके रखे हैं अधिष्ठान चैतन्य तो अपने स्वरूप है और वो हम कहते समय अधिष्ठान चैतन्य भी है किंतु उसके साथ देहादि अनात्म को मिला करके रखे अनात्म को सब में अहम बुद्धि करके सब को पकड़ कर रखे तो अधिष्ठान चैतन्य कहाँ है कहाँ ढूंढते हैं कैसा उसको पता चलेगा कैसे मालूम होगा तादात्माध्यास करके चिदाभास को हम बुद्धि करके जो स्वरूप है बिंब रूप चेतन है और प्रतिबिंब को मैं मान करके ढूंढता है बिंब कहाँ है और अनात्मा को मिला करके अनात्मा को मिथ्यात्व तो बुद्धि कर दिया तो अपना स्वरूप है इसलिए सत्य वस्तु को प्राप्त करना सत्य स्वरूप में स्थित होना है तो असत्य मिथ्या वस्तु में सत्य तो बुद्धि को छोड़ना महम तो बुद्धि का त्याग करना वही त्याग ही फेंकने क्या कुछ नहीं शरीर को कहाँ फेंकना शरीर है तो उसे मिथ्या तो बुद्धि कर दिया मेरा शरीर तो मैं नहीं हूँ मैं जानता हूँ शरीर को तो मैं शरीर नहीं हूँ ऐसे मिथ्या तो बुद्धि करे मैं उसे भिन्न हूँ ऐसे करने से शुद्ध अंतकोण होता है तो फिर सब में वैराग्य हो जाता है मिथ्या तो निश्चय करे तो बार बार उसे वैराग्य तो शुद्ध अंतकोण होने पर ज्ञान होता है इसलिए अंतकोण शुद्धि के लिए अंत में कहते हैं यह शतरुद्रियम अधीते सु अग्निपूत भवती स वायुपूत भवती स सुरापानात् पूत भवती ब्रह्महत्या पूत भवती सुवर्णस्त्यात् पूत भवती कृत्या कृत्यात भूत होती तस्माद अभिमुक्तमाश्रितो भवत्यत्याश्रमी सर्वदा स कृत्वा जपेत अनेन ज्ञानम आपनोति संसारा नवनाशन तस्मादेव विदित्वेन कैवल्यम फलम अश्नुते कैवल्यम फलम अश्नुते कैवल्यम फलम इति शतरुद्रियम अधीते ये जो तमेतम तमेतम वेदानुवचन वचन है ना ब्राह्मणा विविध्य सन्ति वेद का अनुवचन वेद गुरु मुख से सुन करके उच्चारण अनुच्चारण कर पढ़ना है इसी प्रकार यहाँ नमस्ते रुद्र मान्य में रुद्री कहते हैं पढ़ता है स्वग्निपूत भवती पवित्र होता है अग्निपूत भवती अग्नि से कर्म सौतस्मार्त कर्म होता है इसी कर्म के द्वारा पवित्र होता है वायु पूत भवती सबसे पवित्र हो जाता है वायु के द्वारा भी सुरापान पाप से मद्यपान कोई करता है तो महापात उसे भी पवित्र हो जाता है ब्रह्म हत्या पाप महापात उसे भी पवित्र हो जाता है सुवर्ण त्याग सुवर्ण चोरी करता है वो भी महापात के उससे भी पवित्र हो जाता है कृत्या कृत्यात पुत होती कृत्य और अकृत्य जानकर कुछ कर्म करता है तो पाप कर्म कृत्य और अकृत्य है जो करने करना नहीं पता नहीं किंतु हो जाता है अपने आप अकृत्य न कृत्यम अकृत्यम अबुद्धिपूर्वक पाप उसे भी पवित्र हो जाता है तस्माद अभिमुक्तम आश्रितो भवती अभिमुक्त का अर्थ करेंगे अभिमुक्त है पशुपति का अर्थ क्या विमुक्त है विशेषण मुक्त शास्त्र आचार उक्त से रहित हो तो विमुक्त होता है कहीं कहीं अलग अर्थ करते विशेषण मुक्त विमुक्त और शास्त्राचार्य आचार्य से रहित हो तो विमुक्त पशु के समान जो शास्त्रीय मत पर चलता है वो तो सदाचार है विमुक्त नहीं विमुक्त मतलब जो विशेषण शास्त्राचार शास्त्रीय आचार से रहित तो हो जाएगा तो पशु के समान उसको का विमुक्त उससे भिन्न होता है अभिमुक्त पशुपति परमात्मा है उसको आश्रित तो होता है अभिमुक्तम आश्रित पर, पशुपति परमात्मा में आश्रित तो होता है अत्याश्रमी पहले कहा आश्रम को अतिक्रम करके गृह ब्रह्मचारी गृहस्थ वान प्रस्थ सन्यासी फिर आगे सब आश्रम सतीत सन्यासी है सर्वदा सकृतवा जपे वो हमेशा जप करे दिन में एक बार जप करे रुद्र रुद्री अनेन ज्ञान आपनोति संसारा नवनाशनम संसार अन्नवे समुद्र उसका नाश करने वाले ज्ञान को प्राप्त करता है अंतकोण शुद्ध होने पर रुद्र आदि अध्ययन रुद्र आदि अध्ययन करने पर तस्मादेव विदित्वेन कैवल्यम फलम अस्मृते तस्माद एवं विदित्वा जैसे शिष्य उपनिषद में कहा गया अहम अस्मी ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार करने पर एनम एव एनम परमात्मा इस प्रकार जान करके कैवल्य रूप फलों को प्राप्त करता है केवल से भाव कैवल्यम अद्वितीय ब्रह्म तत्व रूप स्वयं ब्रह्मात्मा अवस्थान ब्रह्म स्वरूप हो जाता है कैवल्यम फलम अश्नुत इति कैवल्य फलों को प्राप्त करता है दो बार आवृत्ति की गई उपनिषद समाप्ति के लिए यह प्रसिद्ध मुमुक्षु यह शतरुद्रियम अधीयते शतरुद्र पढ़ने वाला जो प्रसिद्ध मुमुक्षु है मोक्ष में भूयात तो दृढ़ इच्छा मुमुक्षुत्व मोक्ष प्राप्ति की दृढ़ इच्छा इच्छा वाला सामान्य इच्छा होने पर मुमुक्ष नहीं कहते ऐसे सामान्य इच्छा है भोग भी करेंगे मोक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छा है ऐसा नहीं मोक्ष ही प्राप्त करने मोक्ष की इच्छा है वही दृढ़ है अन्य इच्छा नहीं हो तो दृढ़ है और इच्छा है तो दृढ़ नहीं है मुख्य अनुत्पन्न साक्षात्कार अनुत्पन्न साक्षात्कार ऐसे जिसके साक्षात्कार नहीं हुआ उसके लिए ये अंतगुण शुद्धि के लिए शतरुद्रियम नमस्ते इत्यादि रूप रुद्राध्यायम अधीते रुद्राध्याय अध्ययन करता है वो वेद पाठ से भी पुण्य होता है कामना रहित तो होकर बार बार करे वेदान वचन अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है पढ़ता है यथाशक्ति यह शत्रुद्रीय अध्ययन करता शत्रुद्रिय का अध्ययन करता है अग्नि पूत भवत अग्नि भी पूत श्रौत स्मारते ही पूत सुपवित्र कृत हो सुपवित्रीकृत होती श्रुति में विहित कर्म श्रौत स्मृति में विहित स्मारत उन कर्म से पवित्र होता है सुपवित्रीकृत होती वायुपूत होती वायु के द्वारा पवित्र होता है उपासना करके पवित्र होता है प्राणायाम करके पवित्र होता है तो रुद्रा अध्ययन कर्ण से तो वायु से भी पुत पवित्र होता है सुरापानाथ मदिरापानाथ महापात को दोषात सुरापान मद्यपान महापात को दोष है उससे भी पवित्र हो जाता है इसे रुद्राध्ययन से इति स्पष्टम ब्रह्म महापात महापातक दोषात पुत भवती ब्रह्म हत्या ये महापात के वो दोष से भी पवित्र हो जाता है स्पष्टम सुवर्णस्तयात हिरण्यापहरणात् को दोषात पुतो होती थी स्पष्टम सुवर्ण अपहरण महापात के बड़े पाप है उसे भी पवित्र हो जाता है कृत्याकृत्यात पूत होती कृत्यम करणीयम बुद्धिपूर्वकम पापम जो करने योग्य जानकर करता है अकृतों से विलक्षण है अकरणीय मतलब जो नहीं जान करके हो जाता है अबुद्धिपूर्वकम पापम कृत्यम च कृत्यम च कृत्याकृतम उससे सब पवित्र हो जाता है कर्म तो जान करके पाप तो भी कोई करता है और नहीं जानते हुए भी पाप हो जाता है चलते फिरते कीड़े मकड़े मर जाते कभी कुछ अज्ञात से पाप हो जाता है तो उसे मुक्त हो जाता है तस्मा शतरुद्र अध्ययनाद अभिमुक्त को आश्रित तो होता है अभिमुक्त अर्थ करते विशेषण मुक्त मुक्त विमुक्त विशेषण मुक्ता मतलब विशेषण क्या है विशेष रूप से शास्त्रोच्चारा आचारात मुक्ता का तो रहित शास्त्र में जो आचरण उससे रहित हो गया तो उसको कहते विमुक्त सर्वत्र ये अर्थ नहीं है अन्यत्र विमुक्त अर्थ है यहाँ विमुक्त है शास्त्रोक्त आचार किस प्रकार रहना चाहिए कैसे व्यवहार करना चाहिए क्या करना चाहिए सब शास्त्र में कहे गए तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते भगवान कहते आचार शास्त्र के अनुसार होना चाहिए अपने मन से कोई कहे क्या हो जाता है हम करेंगे तो क्या क्यों नहीं, नहीं कर सकते वो क्यों नहीं कर सकते ये सब उतने मात्र से नहीं होता है सब सामान्य लोक में भी जैसे नियम और नियम को उल्लंघन करके कोई कहेगा ऐसे क्या हो जाएगा हम क्या मानेंगे पुलिस के पुलिस के सामने कहो कुछ नियम लगा है एक सौ चौरासी लगाते हैं कर्फ्यू लगा हुआ तो हमको मालूम नहीं हम क्या जान से क्या होगा पुलिस कुछ कहेगा नहीं कहेगा नहीं लाठी लगा देगा क्यों कहेगा कहना क्या जरूरत है इसी व्यक्ति तो पुलिस कहता नहीं दो लाठी भरा देंगे तो भर जाएगा इसी प्रकार यहाँ भी चलता नहीं और यहाँ यमराज के पास यहाँ यमराज क्या उनके दूतों के सामने कुछ नहीं चलता है शास्त्र में जैसे कहा गया वैसे क्या हो जाएगा यहाँ बोलो क्या हो जाएगा उसका फल मिल जाएगा बाद में इसे शास्त्र में जैसे कहा गया इसे करना चाहिए वहाँ तर्क करना है क्यों इसे अपवित्र पवित्र क्यों क्यों ब्रीही में प्रोक्षण करने का प्रोक्षण कर देने से क्या हो जाता है इतने पानी डाल दिया क्या हो गया क्यों करना है ऐसे कोई कहते गंगा स्नान करने से क्या हो जाता है क्या हो जाता है तो ब्रीहीन प्रोक्षति का प्रोक्षण करता है और अग्नि में घी डालने से क्या हो जाता है तो जो लोग कहते गंगा स्नान करने से कुछ लाभ नहीं होता वो कहते अग्नि में हवन करो तो अच्छा हो जाएगा कोई लोग कहते हैं इस अग्नि में के मिर्ची डालो एक मिर्ची आप खा ले तो भोजन के सामने कोई दो चार खा लेते कपड़ा वैसे ही एक मिर्ची अग्नि में डाल दो मिर्ची अग्नि में डालो इतने लोग सब लोग छींकेंगे खाते तो क्या हुआ एक मिर्ची एक व्यक्ति खाने से जितने लाभ हुआ हुआ उसका फल हुआ और अग्नि में डाल दिया तो सबको मिल गया इसलिए घी आप खाने पर जो लाभ होता है वो अग्नि में डाल दो तो उससे अधिक लाभ होगा ये युक्ति देते हैं <laughs> गंगा स्नान करने से क्या हो जाएगा किसने देखा है साधक करने से क्या हो जाता है ऐसे सो कहेंगे कहेंगे सो घी में डालो पैंट शर्ट पहनने के बाद मोटा मोटा धागा लगा दो जाने को कह करके कुछ ना कुछ बोलो आगे स्वाहा कहो कुछ ना कुछ कहो स्वाहा कहो हवन करते उससे लाभ क्या होगा जैसे मिर्ची डालने पर अग्नि में सौ को लाभ होता है इसी प्रकार घी डालो तो लाभ हो जाएगा इसे घी नहीं खा करके अग्नि में डालते जाओ हवन करने के लिए जो कहा गया यज्ञ आदि विधि पूर्वक जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसा है नहीं कि मिर्ची डालने से जैसे लाभ अग्नि में घी डालने से यही लाभ के लिए हवन होता है ये दृष्ट अदृष्ट को नहीं मान करके खाली दिखता है दृष्ट जैसे होता है तो इतने लाभ होने के लिए हवन करना घी डालना घी अग्नि में ये सब विभिन्न प्रकार तर्क के आधार पर से सिद्ध नहीं होता है कुछ दृष्ट है तर्क के आधार पर जो होना है जहाँ तर्क का विषय नहीं धर्म अधर्म के लिए पाप पुण्य के लिए तर्क से क्या होगा तर्क से नहीं होगा कोई पशु पक्षी मार कर खाते हैं उनको नहीं खाने के कहते हो क्यों आप तो मूली खाते हो गाजर खाते हो वो भी तो जीव है ना नहीं तो ये खाया तो पशु खाने क्या क्या हो गया मूली गाजर क्या आप खाते हो वो भी तो जीव है जीव है ना नहीं पेड़ पौधा उसको उखाड़ कर खा लेते हो तो भी क्या बराबर हो गया ऐसे तर्क करने पर बहुत प्रकार के तर्क है तो ये कुछ नहीं शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे करना चाहिए उससे रहित तो जो होता है उसको कहा विमुक्ता वो कौन है विमुक्ता पशव पशु शास्त्रोक्त आचार्य के अनुसार पशु चलते हैं क्या तो उनका शास्त्र नहीं जैसे चलते हैं तो भी उनका कुछ नियम है और जो मनुष्य होकर के शास्त्र उत्तर आचार्य से रहित तो हो गया पशु के तुल्य हो गया और अभिमुक्त कौन होगा तेभ्यो व्यतिरिक्त अभिमुक्त उनसे भिन्न है जो पशु नहीं है पशुपति है परमात्मा इसलिए मनुष्य को भी पशु कह कर पशुपति परमात्मा है यही पशु ही तम आश्रित भवती स्पष्टम ऐसे जो पशुपति परमात्मा में आश्रित होता है अत्याश्रम अत्याश्रम पहले कहा परमहंस का लक्षण सन्यासी स यश अस्ति इति अत्याश्रमी अत्याश्रम वाला परमहंस सन्यासी सर्वदा निरंतरम सकृत व कदाचित व दिवस दिवस एक बार में देता निरंतर जप करे अथवा एक बार दिन दिन में सारा जीवन में एक बार नहीं सक एक कदाचित होता दिवस दिवस एक बार प्रतिदिन में एक बार सकृति कहते एक बार एक बार मतलब प्रतिदिन एक बार अथवा बहुत दिन में बार बार जप करें वाह शब्द अधिकारी सामर्थ्यानुसार न व्यवस्थित विकल्पार्थ अधिकारी सामर्थ्य के अनुसार कोई अधिक बार करे कोई एक बार करे ऐसे ही करे अनैन रुद्राध्याय जपेन ज्ञानम प्राप्त करता है अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है वेद अध्ययन वैदिक शास्त्र गीता आदि पारायण करते अध्ययन करते हैं उसके अनुसार मार्ग में चलते हैं तो अध्ययन वेद अध्ययन भी अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन वेदानुवचन ब्राह्मणा भी दिशंती निष्काम होकर के शास्त्रोक्त कर्म विहित कर्म उपासना चिंतन करने पर अंतकोण शुद्ध होता है शुद्ध होने पर ज्ञान प्राप्त करेगा शुद्ध होने पर फिर वैराग्य होता है जिज्ञासा होती है गुरु समीप में जाएगा सब अपने आप होगा पहले अंतकोण शुद्धि के लिए सब साधना जितने साधन है सब ठीक है ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान वेदांत श्रवण से होगा महावाक्य श्रवण से किंतु उसके पहले अंतकोण शुद्धि चाहिए इसलिए जितने साधन है सब साधन आवश्यक है तब अंतकोण शुद्ध होने पर ही वेदांत श्रवण करने की जिज्ञासा इच्छा होती है श्रवण भी करता है बहुत लोग श्रवण करते नहीं कोई प्रारंभ करने के बाद थोड़े समय कहते हो गया हम कहा गया समझ गया ब्रह्म तो हम ही तो ब्रह्म है सब मिथ्या है समझे अब क्या करना हो गया अभी साधन करो आगे जाकर रटते रहेंगे हम असीम हम ब्रह्म हम ब्रह्म रटते रहो वो नहीं श्रवण का तात्पर्य निर्णय होने तक श्रवण करना पड़ता है और श्रवण करते करते मनन होकर के संशय नष्ट हो संशय नष्ट हो संसार में मिथ्यात्व बुद्धि हो जाए तो श्रवण काल में भी निधिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति का प्रारंभ हो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती क्यों या तो श्रवण से संशय दूर नहीं हुआ शास्त्र तात्पर्य निश्चय हो गया तो भी प्रमेय संशय नष्ट नहीं हुआ प्रमेय संशय नष्ट हो जाए तो भी ब्रह्माकार वृत्ति क्यों नहीं होती संसार में आसक्ति है वैराग्य नहीं है वासना है वासना है सांसारिक वस्तु भोग करने के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए तो कहाँ श्रवण मनन करेगा कर भी ले तो श्रवण मनन इतने मात्र से कृत्य कृत्य अपने को मान करके निधि ध्यान नहीं कर पाएगा ब्रह्मकार वृत्ति नहीं होगी वासना उसको भगा लेगी इसलिए तत्पर होकर के श्रवण मनन श्रवण काल में ही मनन होता है वैराग्य होना चाहिए प्रपंच में मिथ्या तो बुद्धि बार बार है तो क्यों भटकना भटकना भागना फिरना जब है तो वो प्राप्त करना उधर जाना इसको देखना उसको प्राप्त करना सर्वत्र यदि मिथ्या तो बुद्धि है अपने स्वरूप है कुछ नहीं शास्त्र तात्पर्य निर्णय करे मनन करके ब्रह्माकार वृत्ति निधि ध्यासना तभी ज्ञान होता है ये अंतकोण शुद्धि नहीं होने से वैराग्य नहीं हो तो जिज्ञासा भी नहीं होगी मुमुक्षुत्व नहीं जिज्ञासा वेदांत श्रवण करते समय बार बार मिथ्या तो बुद्धि का अभ्यास करे सत्य है ब्रह्म सौ मिथ्या है ये शास्त्र में तो यही बार बार समझ में आ गया समझ में आ गया तभी कहेंगे जब मिथ्या के पीछे भागे नहीं कहती है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बिल्कुल समझ आ गया ब्रह्म सत्य उसे जगत मिथ्या और चाहिए क्या ब्रह्म सत्य तो निश्चय हो गया और क्या करना अभी जगत के लिए चलो यदि ब्रह्म सत्य निश्चय हो गया बाकी मिथ्या है तो मिथ्या के पीछे क्यों भागना अब मिथ्या मिथ्या के पीछे भागना मतलब अभी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या समझे में नहीं आया समझ आ गया तो फिर भाग अपना पर छोड़ दो अपने स्वरूप तो ऐसे करके निरंतर चिंतन करे तो ज्ञान प्राप्त करता अहम ब्रह्मास्मृति साक्षात्कार रूपम आपनोती ज्ञान साक्षात्कार तब तो संसार अन्नवनाशनम संसार अन्न वे समुद्र संसार सागर शोषणम समुद्र को शोष लेता है इसे ज्ञान यस्मात् रुद्राध्याय जपो अशेष पाप निर्वहरण द्वारा ब्रह्म ज्ञान हेतु तस्मा तत एवं विदित्वा उक्तेन प्रकार त्रिनेत्र ध्यान रुद्राध्याय ध्यानादिना विदित्वा कृत्य संसार अन्नवनाशन होता है यस्मात् रुद्राध्याय जप रुद्राध्याय का जप स्वाध्याय बार बार आवृत्ति अशेष पाप निवारण द्वारा ब्रह्म ज्ञान हेतु पाप निवृत्ति के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के हेतु इसलिए तत एवं विदित्वा इस प्रकार रुद्राध्याय जप बाकी जितने अंतकोण शुद्धि के साधन नाम जप सत्कर्म करना यज्ञ दान तप तीर्थाटन प्राणायाम सब करने पर अंतकोण शुद्ध होता है त्रिनेत्र ध्यान त्रिनेत्र त्रीणी नेत्राणी से परमात्मा शिव जी का ध्यान फिर साकार ध्यान निराकार ध्यान परमात्मा का ध्यान रुद्राध्याय अध्ययन आदिना वेदाध्ययन अध्ययन वेदानुवचन यज्ञ दान तपसा तप तप है अपने वर्णाश्रम धवन धर्म अनुष्ठान करना और तप विभिन्न प्रकार तप है अन्य व्यक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ चिंतन करना और लक्ष्य श्रवण मनन करते समय जो प्राप्त होता है सह करना ये निरंतर करके तप आदि करने से विदित्व साक्षात्कृत्य एनम का था परमात्मा तो कैवल्य प्राप्त को कैवल्यम प्राप्त कैवल्यम केवल से भाव कैवल्यम केवल है आत्मा केवल से भाव तो केवल है कौन आत्मा उससे अतिरिक्त बाकी सो अनात्मा मिथ्या है ही नहीं आत्मन भाव कैवल केवल से आत्मन भाव कैवल्यम यही तत्फल पुरुषाभिलाष विषय सर्व पुरुषार्थ समाप्तिभूतम ज्ञान का फल है पुरुष का अभिलाष विषय अभिलाष इच्छा इच्छा का विषय जितने वस्तु चाहता है सारे पुरुषार्थ इच्छा का विषय है सारे पुरुषार्थ समाप्ति भूतम सब पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है ब्रह्मस्वरूप हो गया सब कुछ प्राप्त हो गया सर्वपुरुषार्थ समाप्ति भूतम वो इष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है कैवल्यम अश्नुते प्राप्नुति प्राप्त करता है कैवल्यम फलम अश्नुते इति व्याख्यातम पहले कहा है कैवल्य फल अश्नुते वही फल को प्राप्त करता है तो पदाभ्यास उपनिषद परिसमाप्त्यर्थ कैवल्यम फलम अश्नुते कैवल्यम फलम अश्नुत इत्यर्थ इति श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य आनंदात्म पूज्य शिष्य से शंकरानंद भगवत कृत भाल्लवी शाखोक्त कैवल्य उपनिषद दीपिका समाप्ता इसमें टीकाकार अंत में कहते भाल्लवी शाखा में कैवल्य उपनिषद कही गई प्रारंभ में तो ये आरंभ टीका के अंतर्गत तो नहीं अंत में लेकर दिया है तो भाल्लवी शाखा वाचस्पत्य कोष में दिया गया साम के अंतर्गत है किंतु सामवेदिक अंतर्गत नहीं है कहीं कहीं सहना वो तो शांति मंत्र लिखते हैं और कहते हैं अथर्वेद की शाखा है अथर्वेद शाखा से कहीं भद्रम करने भी ये शांति पाठ भी करते हैं इसमें दे दिया भाल्यवी शाखा और भाल्यवी शाखा देखा वाचस्पति को उसमें सामवेद की शाखा कही गई किंतु मुक्ति का उपनिषद में एक सौ आठ उपनिषद का नाम दिया शांति मंत्र भी कहा गया उसमें स्पष्ट मूल में आया ये कृष्ण यजुर्वेद के है के का है सहनाभूत शांति इसलिए अन्यत्र विभिन्न प्रकार कहा गया है कहीं कहीं सहनाभूत शांति दे करके नीचे कहते अथर्वेद की एक बड़े पुस्तक में सहनाभूत शांति कहते हैं और नीचे कहते अथर्वेद की कहीं कहीं अथर्वेद कह करके भद्रम करने में शांति भी कहते हैं इसमें ये भाल्लवी शाखा का सामवेदिक के अंतर्गत ना तो अथर्वेद है ना कृष्ण यजुर्वेद अलग हो जाता है ये सब मतभेद किंतु मुक्ति का उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा है ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत असहना भव तो शांति है इसलिए ही मुक्ति का उपनिषद मूल में उनसे वह प्रामाणिक है अन्यत्र कहीं कुछ अलग अलग अलग प्रकार कहा गया है तो भाल्य विशाखा भी वास्तव है या नहीं है ये भी संशय क्योंकि वाचस्पति कोश में भाल्य विशाखा सांवेद की कही गई तो ये कृष्ण यजुर्वेद के है इसलिए सहनावतु शांति है ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो